हेलो नमस्ते अमित जी अमिताभ बच्चन जी मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ पहले भी एक मैसेज भेज चुका हूँ ऑडियो पता नहीं आपके पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा अब दोबारा भेज रहा हूँ और मैसेज मैं इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ आप एक कामयाब इंसान हैं अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है समाज में शोहरत दी है सब कुछ दिया है जो एक इंसान सोचता है कोई इंसान जिसका ख्वाब देख सकता है आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है तो जिस तरह आप इस दुनिया में एक कामयाब इंसान हैं मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप मरने के बाद भी एक कामयाब इंसान बने और वहाँ की कामयाबी यही है कि हमें स्वर्ग मिल जाए और नर्क से बच जाए लेकिन स्वर्ग किन लोगों को मिलेगी स्वर्ग उन लोगों को मिलेगी जो उस एक मालिक की उपासना करेंगे अल्लाह की उपासना करेंगे पूजा करेंगे जिसने उन्हें पैदा किया ये तमाम इंसानों के लिए एक ही कानून है मालिक का ऐसा नहीं सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए बल्कि पहले इंसान हज़रत आदम से लेकर जो आखिरी इंसान दुनिया में आएगा अगर वो मालिक के स्वर्ग में जाना चाहता है अगर मरने के बाद वो नर्क से बचना चाहता है तो उसे ये स्वीकार करना पड़ेगा बग़ैर मालिक को एक माने और मालिक को छोड़कर किसी और की पूजा करके किसी और के आगे माथ मा, आगे माथा टेक कर वो चाहे मैं स्वर्ग में चला जाऊं तो मालिक ने ये कसम खा ली है कि मैं उसे स्वर्ग में नहीं भेजूंगा क्योंकि जिस मालिक की धरती पर हम चल रहे हैं जिसने हमें इंसान बनाया अगर वो चाहता मैं गाय भैंस घोड़ा बकरी कुछ भी बन सकता था जिसने हमें इंसान बनाया जिसकी दी हुई सांस हवा से हम सांस ले रहे हैं जिसका दिया हुआ पानी पी रहे हैं हम उसी को ना माने उसी को नाराज़ करके चले जाएं उसी को छोड़कर किसी और की पूजा करनी शुरू कर दें किसी देवी देवता की किसी पीर फकीर की किसी राजा महाराजा की अपनी चॉइस से अपना भगवान बना लें इससे बड़ी तबाही नहीं हो सकती आपने देखा होगा जब इंडिया में दो लोग मिलते हैं तो पूछते हैं तुम किस भगवान की पूजा करते हो तो एक कहता है साहब मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ दूसरा कहता मैं शिव जी का भक्त हूँ मतलब उसने अपने चॉइस से भग, किसी को भगवान मान लिया उस उसने अपनी चॉइस से क्या भगवान भी चॉइस से बन सकता है हम सारे इंसान एक ही भगवान के बनाए हुए एक ही ईश्वर के बनाए हुए हम चॉइस से कैसे अपना भगवान बना सकते इसकी मिसाल ऐसी हो जैसे बहन भाई आपस में मिलें सगे बहन भाई और पूछें तुम किसको बाप मानते हो बाप तो एक ही रहेगा चाहे उसे मानो मत मानो चाहे उसे गालियाँ दो लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा अपनी चॉइस से हम बाप कैसे बना सकते हैं एक भाई कैसा मैं तो उसे बाप मानता हूँ दूसरा के मैं उसे मानता हूँ तो ये तो एक नॉनसेंस बात हो गई बाप तो एक ही रहेगा दुनिया का बनाने वाला तो एक ही रहेगा हम अपनी चॉइस से अपना भगवान कैसे बना सकते हैं जिसकी जिसको चॉइस आई उसे भगवान मान लिया उसकी पूजा शुरू कर दी जो असल भगवान है जो असल ईश्वर है वो पीछे रह गया उसको कोई नहीं पूछ रहा मालिक ने इसी इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजा है कि मुझे कौन याद करता है मुझे बगैर देखे कौन याद करता है देख के तो सभी याद करेंगे अगर अल्लाह ताला सामने आके बैठ जाए सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे है मालिक है मालिक करना शुरू कर देंगे लेकिन मालिक ये देखना चाहता है मुझे बगैर देखे कौन मानता है तो अगर हम इसमें फेल हो गए फिर पास होने के कोई चांस नहीं फिर हमेशा हमेशा एक नर्क हमारा ठिकाना है तो बस अमित जी मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता बस मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप कलमा पढ़ लें ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह एक है उसके अलावा कोई पूजा के लायक नहीं और मोहम्मद वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं पैगंबर हैं एक दफ़ा भी आपने कह लिया जन्नत आपकी हो गई दुनिया में भी मज़े आखरत में भी मज़े और अगर नहीं कहा तो फिर मालिक पूछ लेगा हमसे मरने के बाद बताओ तुम्हें किसने पैदा किया था तुम्हें कौन खिला रहा था तुमने मेरे अलावा क्यों किसी की पूजा की मेरे अलावा इन देवी देवताओं को क्यों माथा टेका किसने बनाया था कौन से देवी ने बनाया था तुम्हें कौन से देवता ने बनाया था जवाब दो उस दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं हुआ वसल ताला हमें आपको सच्चे इस्लाम पर चलने की तोफ़ी अता फ़रमाए असल काम तो ये नबियों का होता था वो लोगों को समझाते थे आकर नबी अल्लाह के चुने हुए बंदे होते थे उन जैसा तो मैं आपको समझा नहीं सकता वो जितने प्यार से जितनी मोहब्बत से जितनी शफकत से लोगों को समझाते थे वो प्यार तो मेरी ज़बान में नहीं आ सकता मैं एक पापी आदमी हूँ लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला आप भी जन्नत में जान अल्लाह ताला आपको भी जन्नत में जाने वाला बनाए क्योंकि बचपन से हम आपको देखते आए हैं और मैंने आपके लिए दुआएं की बहुत अल्लाह ताला से रोज़ाना रात को तहद में दुआ करता हूँ तहजद की नमाज़ माश वक्त के अलावा नमाज़ के अलावा एक ऑप्शनल नमाज़ होती है बहुत कम लोग उसे पढ़ते हैं मालिक ने मुझे तोफ़ी दे रखी है मैं पढ़ता हूँ मालिक का वादा है जो उसमें दुआ मांगे मैं उसे कबूल करूँगा बल्कि मालिक ऐलान करवाता है रात को है कोई मांगने वाला जिसकी दुआ कबूल करूँ है कोई मदद मांगने वाला जिसकी मदद करूँ उसमें मैं आपका नाम लेकर रोज़ाना दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप बिंची को भी ईमान अदा फरमा दे उन्हें भी जन्नत में जाने वाला बना दें मुझे उम्मीद है मालिक एक न एक दिन मेरी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा लेकिन मुझे डर भी लगा रहता है आपकी तबीयत ख़राब की खबरें आती रहती हैं अभी आपको कोरोना भी हो गया था कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त ऐसे निकल जाए और हम इस दुनिया से चले जाएं जाना तो सबको है लेकिन जो इंसान उस एक मालिक की उपासना करता हुआ जाएगा उस एक मालिक का भक्त बन के जाएगा वही कामयाब होगा बाकी तो सब ने अपने अपने बनाई रखे मंदिर में जाएंगे वहाँ किसी और की मूर्ति मिलेगी चर्च में जाएंगे वहाँ किसी और की मूर्ति मिलेगी ये सब जो है पूछ लें चर्च में जाकर वहाँ जीसस क्राइस्ट की मूर्ति मिलेगी पूछें कि जेसस क्राइस्ट ने पूरी दुनिया को बनाया नहीं बता सकते वो बनाने वाला एक है वो किसी को दिखता नहीं है इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है कि मुझे बग़ैर देखे कौन याद करता है तो मैंने आपके लिए कहाँ कहाँ दुआ नहीं की हज में गया मैंने वहाँ दुआ की काबे का तवाफ़ करते मैं आपके लिए दुआ की मेरे लिए दुनिया की ज़िंदगी की सबसे खुशी की बात होगी आप कलमा पढ़ लें आप ईमान के साथ इस दुनिया से जाएं क्योंकि मालिक हमसे पूछेगा मेरा इतना प्यारा बंदा तुम्हारे सामने था तुमने उसे मेरा मैसेज क्यों नहीं पहुंचाया तुमने उसे मेरी नर्स से क्यों नहीं बचाया तुमने उसे मेरे जन्नत में भेजने की फ़िक्र क्यों नहीं की तो हम क्या जवाब दे पाएंगे बस इसी डर से मैं आपको और इसी उम्मीद से कि अल्लाह ताला आपको भी जन्नत में जाने वाला बनाए ये मैसेज भेज रहा हूँ मैं एक किताब का लिंक भेज रहा हूँ इसी के साथ ही आप उस किताब को पढ़िएगा उसमें भी इस्लाम को समझाने की कोशिश की गई है आसान अंदाज में अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जाने वाला बनाए